بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من شرح صدورنا بتلخيص البيان في إيضاح المعاني ونور قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المثاني ونصلي على نبيك محمد المؤيد دلائل إعجازه بأسرار البلاغة وعلى آله وأصحابه المحرزين قصبات السبق في مضمار الفصاحة والبراعة وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله الغني مسعود بن عمر المدعو بسعد التختازاني بسعد التختازاني أذاه الله سواء الطريق وأذاقه حلاوة التحقيق इल्म बलावत इसको क्यों पढ़ते हैं और इसका फ़ायदा क्या है असल इल्म बलावत कुरान करीम को अच्छी तरह से समझने के वास्ते है कि कुरान करीम के अंदर जो असरार और रमूज है यानी जो छुपी हुई बातें हैं और छुपी हुए उसके अंदर ऐसी बातें हैं जिनको अल्फाज के ज़रिए जाहिर नहीं किया जा सकता उन बातों की पहचान के वास्ते और उन बातों को जानने के लिए ये इल्म बलावत पढ़ाई जाती है ताकि हम उन बातों पर हाजिर हो जाएं क्योंकि क़ुरान करीम वो फसीह ज़बान के अंदर है और सबसे ज़्यादा फसीह ज़बान के अंदर है अहल अरब अरब के अंदर बहुत सारे शुरा होते थे और वो फसीह जबान में अशार कहा करते थे लेकिन यह कुरान करीम उन सब अशार के मुकाबले में सबसे ज़्यादा फसीह है कुरान करीम जब नाजिल होने लगा तो इन्होंने कुरान करीम का मुकाबला करना चाहा और ये बात आई कि इस इसका तोड़ कौन पेश करेगा और इतना फसीह कलाम कौन करेगा तो एक शख्स ने ये कहा कि मुझे मौका दे दो और मुझे कोई तन्हाई की जगह दे दो मैं जो है इस कुरान के साथ में अपनी तरफ से जो है फसीह कलिमात और फसीह आयत मिलाऊंगा अब उसको एक जगह दे दी गई उसने वहाँ छह महीने तक का वक्त गुजारा तो फासिद गया जाकर उसने देखा कि देखें कितना काम हो चुका है उससे जाकर मालूम किया तो उसने कहा कि मैं अभी एक लफ्ज भी नहीं लिख पाया जिस बात को भी जिस शहर को भी मैं लिखता हूँ और उसको कुरान करीम के सामने पेश करता हूँ तो मेरा वो शेर उस कुरान के मुकाबले में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों का कलाम उसके पास कागज़ों का बहुत सारा ढेर जमा था लेकिन वो इसके मुकाबले में और कुरान करीम के साथ कुछ न लिख सका इसलिए कुरान करीम ये सबसे ज़्यादा फसीह और बलीग ज़बान के अंदर है इसको समझने के लिए और इसके असरार और रमूज को समझने के लिए ये किताब मुख्तसरमानी पढ़ाई जाती है इसके अंदर तीन फन हैं इल्म मानी इल्म बयान और इल्म बदीर इल्म मानी सबसे ज़्यादा अहम है और इल्म मानी सबसे ज़्यादा सवालत को अपने अंदर लिए हुए सबसे ज़्यादा बयान और सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा बयान जो है वो इल्म मानी ही का है इसलिए शायद मुसनफ़ रहमत ने इसका नाम मुख्तसरमानी ही रखा बयान या वजह के साथ इसको मौसूम नहीं किया बिस्मिल्लाह के बारे में मैंने कुछ बातें बतला दी थी कि बिस्मिल्लाहमानीम मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है अब यहाँ पर बाहर पे जर है मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है तो अल्लाह के नाम से क्या यहाँ खुद ब खुद जहन के अंदर ये बात आती है कि इसका ताल्लुक किसी न किसी लफ्ज और किसी न किसी कलाम से होना चाहिए तो यहाँ पर एक कलीमे से ताल्लुक़ मानेंगे फ़ैल से ताल्लुक़ मानेंगे और वो फ़ैल मुख्तलिफ मकाम पर और मुख्तलिफ मौक़ों से अलग अलग हो सकता है आम फ़ैल माने आम फ़ैल माने अशराऊ अशराऊ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशराऊ के मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ अशराऊ बिस्मिल्ला के मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और ख़ास फैल भी मान सकते हैं जैसे पढ़ने लगे सीखने लगे तो अतम मैं सीखता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से अल्लाह के नाम की मदद से और मुसनफ़ जिन्होंने किताब लिखी वो अपने लिए ख़ास माने तो हो जाएगा कि मुसनफ़ कि मैं किताब को तसनीफ़ करता हूँ अल्लाह के नाम से पढ़ाने वाला वो वल्लमु कि मैं पढ़ाता हूँ सिखलाता हूँ अल्लाह के नाम से तो वल्लमु अतलमु इस तरह के अल्फाज यहाँ पर ख़ास फ़ैल माना जा सकता है खाना खाने बैठे तो खाना खाने के लिए आकुलू तो इस तरह के फ़ैल यहाँ पर माने जा सकते हैं तो बहरहाल ये के बा पे जा रहे तो ये ज़रूर किसी न किसी के साथ मुतक होगा और इसका पता इसके मानी से चल जाता है कि मैं अल्लाह के नाम से क्या शुरू करता हूँ खाता हूँ पीता हूँ लिखता हूँ पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ तो ये सब खुद ब खुद इससे मालूम हो जाता है नहमदू का यामन शराहा तलखीसिल बयानी थी इजाहिल मानी नहमदू का हम आपकी तारीफ करते हैं मैंने बताया था और सल्लम के बाद सल्लम के अंदर भी ये बातें आ चुकी हैं कि यहाँ पर मुसनफ़ी कुतुब जो किताबों को शुरू करते हैं तो वो बिस्मिल्लाह और हमदला बसमला और हमदला यानी बिस्मिल्लाह से और अल्लाह की हमद से किताबों को शुरू करते हैं उसी तरह मुसनफ़ रहमान ने भी किया है कि नहमदुका हम आपकी तारीफ करते हैं या मन شرح صدورنا لتلخیص البیانی فی ایضاح المعانی اے वो ذات जिसने हमारे सीनों को खोल दिया शराह सदूराना जिसने हमारे सीनों को खोल दिया किस वास्ते लितलखीस बयानी बयान बात का खुलासा निकालने के लिए बयान का यानी बात का कलाम का खुलासा निकालने के लिए फी मानी मानी की वजाहत के साथ मानी को वाजह करने के साथ अब देखो यहाँ पर ए वो ज़ात जिसने हमारे सीनों को खोल दिया बयान का खुलासा कलाम का खुलासा निकालने के लिए मानी की वजाहत के साथ यहाँ पर फी माँ के माना में है फी को माँ के माना में माना जाएगा मैंने बात बतलाई थी कि फी को माँ के माना में क्यों मान रहे हैं यहाँ पर मुसनफ़ अली रहमा मानी ही ले आते मैंने बताया था कि ये अरबी मुहावरात के अतबार से और अरबी ज़बान के अतबार से यहाँ पर की लेकर आए लेकिन जब हम इसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो उस वक्त में अपनी ज़बान के अतबार से इसका तर्जुमा बदल लिया जाएगा क्योंकि सास के लिए माँ का लफ्ज़ आता है इसलिए फी को माँ के माना में मान लिया जाएगा तलखीस कहते हैं बात का खुलासा निकालने को और इजाह कहते हैं वाजह करने को यहाँ पर एक बात समझते जावे एक इस्तेलाह है इस्तेलाह क्या है बरात इस्तेहलाल एक इस्तेलाह आती है बरात इस्तेहलाल बरात इस्तेहलाल कहते हैं कि खुतबे के अंदर मुकदमे के अंदर यानी मकसूद से पहले उन चीज़ों को जिक्र करते हैं ना जो चीज़ें आगे आने वाली हैं जो चीज़ें आगे आने वाली हैं ताकि मखसूस की तरफ इशारा हो जाए अब यहाँ पर मुसनफ़ आली रहमा इसी तरह के अल्फाज लेकर आए हैं जैसे यहाँ पर कहा या मन शराहा सुदूराना ए वो ज़ात जिसने हमारे सीनों को खोल दिया शराहा की जगह फतहा भी लेकर आ सकते थे फतहा सुदूराना लेकिन शराहा शराह का लफ्ज लेकर आए और इस से इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये जो मेरी किताब है ये असली किताब नहीं है बल्कि ये शराह है ये शराह है शराह किसकी है आगे लफ्ज लेकर आए लिटल खीसिल बयानी क्या बयान का खुलासा कलाम का खुलासा निकालने के लिए ये तो इसके लफ्जी माना है बाकी तलखीस का लफ्ज लेकर आए इसकी जगह दूसरा लफ्ज भी ला सकते थे लेकिन तलखीज का लफ्ज़ लेकर आए और तलखीज का लफ्ज़ लाकर इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये जो मेरी शराह है ये तलखीज की शराह है यानी तलखीसमफ्ताह की शराह है फिर इसके बाद ये किताब इसके अंदर चूँकि इल्म मानी इल्म बयान ये भी है तो आगे जिक्र किया ली तलखीसी बयान अल बयान का लफ्ज़ लाकर इस तरफ इशारा कर दिया कि इसके अंदर आगे इल्म बयान आएगा और मानी का लफ्ज लाकर भी इस तरफ इशारा कर दिया कि इसके अंदर मानी का भी बयान है लफ्ज ईजाह ईजाह ये जो तलखीस है मुसनफ़ मुसनफ़ तलखीसमफ्ताह ने तलखीसमफ्ताह लिखी और जब तलखीसमफ्ताह को उन्होंने लिख दिया तो वो बहुत ज़्यादा मुख्तर हो गई उसके मुख्तर होने की वजह से उन्होंने एक और किताब लिखी ईजाह के नाम से इसलिए मुसनफ़ आली रहमान ने यहाँ पर ईजाह का लफ्ज़ भी लेकर आ गए तो ये इबारत ऐसी है कि जो मकसूद पर मुतनबे कर रही है और मकसूद की तरफ इशारा कर रही है चलो समझ में आ गई बात ونور قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع और उसने हमारे दिलों को मुनवर कर दिया रोशन कर दिया बिलवाम वाज मुदल बयान वाज मुदल कलाम से मिन मसाल मसानी मिन हरफ जर है इससे पहले एक लफ्ज मानेंगे अलहासिल अलहासिल मिन मसाल मसानी जो हासिल होने वाला है कुरान के अल्फाज से इसको समझें लवाम उबियान लवाम ये लाम उनकी जमा है इसके माना आते हैं चमकदार के और तिबियान ये बयान से है इसके अंदर एक लफ्ज बढ़ा दिया ता और इफ़ाल के वज़न पर तिबियान लेकर आए और ये वज़न मुबालगे के लिए आता है अब तिबियान का जो ये लफ्ज़ है क्योंकि बयान कहते हैं कलाम को बात को जब इसके अंदर अल्फाज लफ्ज़ बढ़ गया एक हर्फ बढ़ गया तो अब इसके मानी के अंदर भी इजाफा हो जाएगा क्योंकि कायदा है अल्फाजुलमबानी तदुल्लमानी है ना कसरतुलमबानी कसरतुलमानी कसरतुलमबानी तदुल्ल तदुल्ल मबानी तदुल्ल आला के मबानी की कसरत मानी की कसरत पर दलालत करती है यानी अल्फाज और हरूफ बढ़ेंगे तो उससे मानी के अंदर भी इजाफा होगा तो यहाँ पर चूंकि बयान कहते हैं कलाम को बात को इसी तरह जब तिबियान ता का लफ्ज बढ़ा दिया तो अब इसके माना हो जाएंगे मुदल बात और मुदल कलाम लवाम तिबियान मुदल कलाम चमकदार और वाज मुदल कलाम से हमारे दिलों को मुनवर कर दिया तो लवाम के माना है चमकदार और वाज के माना भी इसके हो जाएंगे इससे मुराद क्या है आगे एक लफ्ज और है मतालमसानी मिन मतालमसानी मसानी ये मसना की जमा है इसके माना आते हैं दुगने के और इससे मुराद है क़ुरान करीम क्योंकि क़ुरान करीम वो उसकी बाद सूरतें जैसे सूर फातहा के बारे में कहते हैं कि वो दो मरतबा नाजिल हुई है इसी तरह बहुत सी आयतें वो दो दो मरतबा और दुगने से मुराद है मुकर्र कि वो बार बार नाजिल हुई हैं सब मसानी कहते हैं किसको सूर्य फातहा को इसलिए कि वो बार बार पढ़ी जाती है मुकर्र पढ़ी जाती है इसलिए मसानी ये मसला की जमा है और इससे मुराद है कुरान करीम मताल मताल मतला की जमा है मतला तुलु होने की जगह इसमें ज़र्फ है निकलने की जगह सूर अब कुरान करीम जो है इसके निकलने की जगह वो क्या अल्फाज क्या अल्फाज के ज़रिए से कुरान करीम लोगों के सामने आता है और लोगों के सामने निकलता है अब देखो यहाँ पर तस्वीर दी है जिस तरह सूरज निकलता है सितारे निकलते हैं अपने मतलब जब चांद नजर नहीं आता तो उस वक्त कहा जाता है कि मतला साफ नहीं है मतला साफ नहीं है का मतलब यानी जो चांद के तुलू होने की जगह है निकलने की जगह है वो जगह साफ नहीं है उसकी वजह से चांद नजर नहीं आ रहा है तो मतला ये निकलने की जगह तो जब चांद और सितारे निकलते हैं सूरज निकलते हैं तो इनकी वजह से लोगों को रास्ता मिलता है हिदायत मिलती है रहनुमाई होती है और सितारों के जरिए ख़ासतौर से पहले ज़माने के अंदर रास्ते चुन लिया करते थे कि हमें खुला जगह जाना है तो ये सारा बता देता था कि इधर को जाना है और उधर को जाना है तो उसके जरिए से रहनुमाई हो जाती थी चांद है अंधेरी रात है तो जब चांद निकल कर आ जाता है तो उसके जरिए से रहनुमाई और रास्ता मिल जाता है अंधेरा होता है सुबह को सूरज निकल जाता है दिन हो जाता है तो उससे रास्ता और रहनुमाई हो जाती है इसी तरह ये कुरान के जो अल्फाज हैं अल्फाज के ज़रिए से भी रहनुमाई और हिदायत मिलती है इसलिए यहाँ पर मसाल से मुराद पुरानी अल्फाज को लिया जाएगा तर्जमा करेंगे वनवरा कुलूबना मिन मसाल मसानी और उसने हमारे दिलों को मुनवर कर दिया मुदल वाज कलाम से जो हासिल होने वाला है कैसे मसानी कुरान के अल्फाज से क्या हासिल होने वाला है वही मुदल कलाम वाज मुदल कलाम से जो हासिल होने वाला है कुरानी अल्फाज से कुरान के अल्फाज से यहाँ पर लवामे का लफ्ज लेकर आए इसके माना चमकदार के होते हैं और चमकदार जो होता है वो सितारा होता है क्योंकि तो इससे भी इसके अंदर भी इस बात की तरफ इशारा है कि जिस तरह उसकी चमक की वजह से रहनुमाई होती है इसी तरह ये कुरान करीम के जब अल्फाज निकल कर आएंगे लोगों के सामने होंगे तो उनसे भी रहनुमाई हो जाएगी अरे पल्ले परीबात वनसल आला नबी जी का मोहम्मदिन अब आगे हजूर वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं और हम दरूद भेजते हैं जब सल्ला इसकी नस्बत अल्लाह की तरफ हो तो उस वक्त में रहमत के माना होते हैं तो इसके माना चाहे दरूद के कर लें चाहे रहमत के कर लें वनसली तो आला नबी जी का और हम आपके नबी मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लाम पर रहमत भेजते हैं अलमुदी दलाइल एजाजी बसरारबलावती जिनके एजाज की जिनके आजिज करने के दलाइल की तइद की गई है असरार बलावत के ज़रिए जिनके आजिज करने के दलाइल की तइद की गई है असरार बलावत के ज़रिए सबसे ज़्यादा मुआज और आजिज करने वाला कलाम वो कुरान करीम कुरान करीम ने खुद इनको मुखातब करके कहा है कि फ़ातू बसूरत कि तुम ज़रा कोई सूरत तो लाकर दिखाओ लेकिन वो लन तफाल हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सूरत बल्कि कोई आयत का टुकड़ा भी नहीं लेकर आ सकते जब इन्ना आतना कल कौसर फसली रबिक वनहर ये सूरत नाजिल हुई और इसको टांग दिया गया तो इसके आगे किसी शख्स ने लिख दिया माहारा कलामुल बशर कि ये इंसान का कलाम नहीं है उन्हीं कुफार में से किसी ने लिख दिया क्योंकि कुरान करीम की जो फसाहत है वो किसी कलाम कोई कलाम उसका मुकाबला नहीं कर सकता अलमैदी दलाजाजी बलावती जिनकी तइद की गई है या जिनके आजिज करने के दलाइल की तइद की गई है क़वत दी गई है असरार बलावत के ज़रिए असरार बलावत के ज़रिए यानी मुखातब जो सामने है उसको देख कर उसके अतबार से कलाम करना हजूर को ये मलाका दे दिया गया था और वो मुखातब आपको ऐसे आजिज करने वाले दलाइल दे दिए गए थे कि जिनकी वजह से सामने वाला से आजिज हो जाता था मुआजिजे को मुआजिजा इसीलिए कहते हैं चूँकि वो सामने वाले को आजिज करने वाला होता है और मुआजिजा इसकी एक तारीफ ये है कि ऐसा ऐसी चीज़ ऐसी चीज़ का ज़रूर कि जो किसी नबी पर जाहिर हो और उसको दूसरा नहीं कर सकता हो जैसे आपने चांद आपकी वजह से चांद के दो टुकड़े हुए तो ये आप ही कर सकते थे इसीलिए इसको मुआजा कहा जा सक कहा जाता है वाला आली वाबी और रहमत नासिल हो आपकी आल पर यानी मोहम्मद वसल्लम की आल पर और आपके सहाबा पर अबी अबी ये सहाबा की जमा है आल के अंदर कई कौल हैं कि अहले बेद मुराद हैं हजूर के घर वाले और एक कौल इसके बारे में ये भी है कि हर मुतकी वो आपकी आल के अंदर शामिल है तो हर मुतकी आपकी आल के अंदर शामिल है अगर इस कौल को लिया जाए तो इसके अंदर सब मुतकी दाखिल हो जाएंगे और इसके अंदर चूँकि आम माना है सब पर रहमत नाजिल हो जाएगी इस वजह से ये माना यहाँ पर मुराद लेना ज़्यादा बेहतर होगा और रहमत नाजिल हो आपकी आल पर और आपके सहाबा पर कौन सा सहाबा अलमहजीन कबात वलबराती जो जमा करने वाले हैं अहरजा यहरजु अहराजन के माना है जमा करना अलमहरिसीना जो जमा करने वाले हैं कसाबात सब की सब खत के तीरों को कसाबा की जमा कसाबात कसाबा उस तीर को कहा जाता है जो घुड़दौड़ के मैदान में एक मकाम पर गाड़ दिया जाता है कि जो उस तक पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा और वो उस तीर को खेलेगा तो वो जीत जाएगा तो ये तीर जीतने के लिए वो तीर लगाते थे सबकत का तीर यानी आगे बढ़ने का तीर के ये जीत गया है तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो जमा करने वाले हैं सबकत के तीरों को फसाहत और कमाल के मैदान में यानी फसाहत और कमाल इसके मैदान के अंदर क्या करने वाले हैं सबकत के तीरों को जमा करने वाले हैं यानी इसमें बहुत आगे बढ़ने वाले हैं जिनका कलाम बड़ा फसीह है ये तो खुतबा हुआ खुतबे के बाद हमद के बाद मुसनफ़ आलमा कहते हैं वाबादू और हमदो सलाद के बाद बादू अई बादल हमदी व सलादी ये बादू मबनी पर जम्मा होता है यहाँ पर महजूफ होता है अलहमद व सलाद क्योंकि हमद और सलाद के बाद ये लफ्ज आता है वबादू अई बादल हमदी और सलाती यानी हमदो सलाद के बाद بندہ کس کا बंदा بندہ إِلَى बंदा الْغَنِيِّ अल्लाह بے نیاز का या अल्लाह बेनियाज की तरफ मोहताज बंदा मसरूद इबन उमर अलमदू जिसे पुकारा जाता है साद सप्ताजानी से जिसको पुकारा जाता है साद सप्ताजानी से अब इसके अंदर चंद बातें हैं मसरूद तो इनका नाम है और उमर इनके वालिद का नाम है साद यहाँ पर सादुद्दीन इनका लकब है लोग इनको सादुद्दीन लकब से पुकारते थे लेकिन मुसनफ़ रहमान ने यहाँ पर साद जिक्र किया सादुद्दीन जिक्र नहीं किया अद्दीन को हज कर दिया साद के माना नेक वक्त सादुद्दीन दीन के नेक वक्त यानी दीन को नेक वक्ती हासिल करने वाला दीन को वक्त करने वाला तो अद्दीन का लफ्ज अद्दीन का लफ्ज इन्होंने यहाँ से हटा दिया किस वजह से एक वजह से तो इसकी है कि आजिजी जाहिर करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जहन के अंदर ये बात आ जाए कि सादुद्दीन हूँ मैं यानी दीन की नेक बख्ती हूँ कि मेरी वजह से दीन को नेक वक्ति हासिल होगी इस वजह से उन्होंने यहाँ से अदीन का लफ्ज हटा दिया आगे अतफ्ता जानी का लफ्ज है अतफ्ता जानी इसको अतफ्ता जानी यू भी पढ़ सकते हैं और अतफ्ता जानी जी भी पढ़ सकते हैं तफ्ताजानी पढ़ेंगे तो साद के साथ मिलाएंगे बिसादित तफ्ताजानी और अगर तफ्ताजानी यू पढ़ेंगे तो अलमजरू के साथ कि जिन्हें पुकारा जाता है क्या तफ्ताजानी से तो इसको दोनों तरह पढ़ सकते हैं लेकिन चूंकि करीब सात का लफ्ज है तो इसलिए विसादित तफ्ताजानी ही पढ़ते हैं हदा सवा तरीक़ अल्लाह ताला उस उसको हिदायत दे उसकी रहनुमाई करे सीधे रास्ते की तरफ सवा तरीक सीधे रास्ते की तरफ तरीक सवीचू सीधा रास्ता अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करे सीधे रास्ते की तरफ वज़ाकहू हलावत तहक़ीक और उसको तहक़ीक की मिठास चखा दे तहक़ीक की मिठास चखा दे इसके अंदर लफ्ज़ आया इन्होंने दुआ की है अपने लिए कि अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई कर दे अल्लाह ताला उसको यानी सादुद्दीन सफ्ता जानी को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दे हिदायत दे दे सीखा आया माजी का और तर्जमा क्या हो रहा है हिदायत दे दे तो यहाँ पर क्या तर्जमा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते की तरफ उसको हिदायत दे दी लेकिन जो दुआइया जुमले होते हैं उनके अंदर माजी का सीखा लेकर आते हैं जैसे कहा जाता है रहीमल्ला अल्लाह उस पर रहमत करे ये नहीं कहते कि अल्लाह ने उस पर रहमत कर दी दामत बरक़ात उनकी बरकतें हमेशा रहें दायम रहें ये कहा जाता है इसका हमेशा माजी का सीखा ही इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा क्यों है ऐसा इस वजह से है कि माजी का सीगा जो आता है माजी का सीगा आता है यकीनी बात को बतलाने के लिए जैसे कि कुरान करीम के अंदर भी बहुत से मकाम पर बल्कि अक्सर मकाम पर माजी का सीगा ही इस्तेमाल होता है क्योंकि जो कुरान करीम के अंदर है वो बात यकीनी है तो यहाँ नेक फाली लेने के लिए माजी का सीगा इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे उसकी रहनुमाई करे यानी नेक ली के गोया अल्लाह ताला ने उसकी रहनुमाई कर दी और अल्लाह ने उसको तहकीक की मिठास चखा दी तो ये नेक पाली लेने के लिए इस तरह से माजी का सीगा लेकर आया जाता है यहाँ पर एक लफ्ज आया अजाकहू हलावत तहकीक और उसको तहकीक की मिठास चखा दी तहकीक की मिठास तहकीक वही बात का बात की तहकीक करना उसको जांचना कि क्या है हकीकत और उसके अंदर तक घुसना तो यहाँ पर जो हलावत का लफ्ज लेकर आए हैं हमें इसको समझना है कि तहकीक की मिठास का खास ये नहीं कहा गया तहकीक की मिठाई खिला दे सिर्फ चखाने की बात आई है क्योंकि ये जो इल्म है इल्म बलागत ये ऐसा इल्म है कि इसको पूरे तौर पर कोई हासिल कर ले ऐसा समंदर है कि जिसको पूरे तौर पर कोई हासिल नहीं कर सकता जिसमें पूरा गोता कोई नहीं लगा सकता हाँ हल्की फुल्की सी कुछ हवा लग जावे हल्का सा पानी इसको भी लग जावे इस समंदर का ये हो सकता है हल्की सी मिठास मिल जावे ये नहीं कि पूरी की पूरी उसको मिठाई मिल जावे ऐसा नहीं होगा मिठाई और मिठास का मतलब ये कि उसको थोड़ा बहुत इसका इल्म हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा इल्म बलावत का हो जाए क्योंकि ये इतना बड़ा समंदर है अरब मैंने भी बताया कि अरब के लोग इतने फसीह होते थे लेकिन फिर भी वो इसके मुकाबले में एक हर्फ और एक कलीमा भी पेश न कर सके तो इसलिए यहाँ पर अजाक हलावत तहकीक लेकर आए कि और उसको तहकीक की मिठास चखा दे आगे बात समझ में देख नहमदुका हम आप हमद करते हैं ए वो जात जिसने हमारे सीनों को खोल दिया बयान को कलाम का खुलासा निकालने के लिए मानी की वजाहत के साथ और उसने हमारे दिलों को मुनवर कर दिया रोशन कर दिया मुदल वाज बयान से जो हासिल होने वाला है कुरान के अल्फाज से और हम आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं जिन जिनके एजाज जिनके आजिज करने के दलाइल की तायद की गई है कुत दी गई है असरार बलागत के ज़रिए और रहमत भेजते हैं आपकी आल पर और आपके उन सहाबा पर जो जमा करने वाले हैं सबकत के तीरों को फसाहत और कमाल के मैदान में और हमदो सलाद के बाद बस मोहताज बंदा अल्लाह बेनियाज की तरफ मोहताज बंदा मसरूद इबन उमर जिसे पुकारा जाता है सात तख्ता जानी से वो कहता है कि अल्लाह ताला उसको सीधे रास्ते की हिदायत दे दे और उसको तहकीक की मिठास चखा दे देख लो देख लो देख लो नजर मान लो देख ले